नमस्कार ये वीडियो टेप है ये वीडियो है इसके लिए मैं आपको कुछ माइक्रो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी कि किस तरह से गलत कानूनों के द्वारा सरकार आ, लोगों को लूटती है सरकार मतलब कि जो लॉबी मिनिस्टर एमपी को रिश्वत देती है वो किस तरह से उनके पास गलत कानून बनवा के जो छोटे और मिडिल लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनको उनका मार्जिन गिरा देती है प्रॉफिट मार्जिन गिरा देती है उनके कॉस्ट बढ़ा देती है या तो उनको हेरेसमेंट पहुंचाती है ताकि उनको अपना धंधा बंद करना पड़े ताकि जो बड़े आदमी है वो अपना धंधा बढ़ा सके तो कौन कौन से गलत रूल है जिसके द्वारा ये किया जाता है अभी जो नया कानून बना है ज्वेलरी का एक्सरसाइज वो इसमें से एक एग्जाम्पल है कि एक्साइज का कानून इतना खराब है कि एक्साइज ऑफिसर के पास बहुत सारे पावर होते हैं कि वो दुकान बंद कर सकता है वो फैक्ट्री बंद कर सकता है वो सामान कॉन्फिसिकेट कर सकता है वो किसी भी दिन सर्च एंड सीजर कर सकता है तो इससे क्या होगा कि जो छोटे ज्वेलर है वो परेशान हो जाएंगे और वो अपना धंधा ही बंद कर देंगे तो छोटे ज्वेलर अपना धंधा बंद कर देंगे तो ये सारा बिजनेस बड़े ज्वेलर के हाथ में चला जाएगा फिर एस पर एक्साइज नहीं है तो ऑटोमेटिकली जिनके पास ऐसे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा जैसे रॉबर्ट वगैरह है उसके पास सोने के गहने बनाने का बहुत बड़ा एसिड है फिर कस्टम ड्यूटी डाली हुई है सोने पे चार परसेंट कस्टम ड्यूटी डाली हुई है तो ये कस्टम एसिडेंट पे अप्लाई नहीं होगी जो कोई छोटा आदमी उसने मान लो सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद वो सोना सोने के गहने एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको चार परसेंट कस्टम है जो उसने भरा तो उसको रिबेट की तरफ से मिल सकता है लेकिन रिबेट मिलने में उसको तीन चार साल आराम से निकल जाएंगे कम से कम निकल जाएंगे कस्टम के पास रिबेट लेना आसान काम नहीं है जबकि जो एस e में है उसको कस्टम ही नहीं भरना है और उसको सीधा सोना बिना कस्टम के आ गया ज्वेलरी उसने एक्सपोर्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली इससे उसको चार पाँच परसेंट का मार्जिन उसका एडवांटेज ओवर लोकल बढ़ गया तो ज्वेलरी के बिजनेस में मार्जिन होता है मुश्किल से तीन चार परसेंट तो उसमें यदि चार तीन चार परसेंट का डिफरेंस आ जाता है तो जो छोटा कॉम्पिटिटर है वो टिक नहीं पाएगा तो ये कानून के द्वारा जो एसईजेड e के मालिक है उन्होंने मिनिस्टरों को और एमपी वगैरह को रिश्वत दी कि आप ऐसा कानून बनाओ ताकि छोटे आदमी कॉम्पिटिशन में से खत्म हो जाए उसके बाद दवाइयों पे जो पेटेंट का कानून है दवाइयों के पेटेंट का कानून दो, दो हिस्सों में पास हुआ। एक पास किया वाजपेयी ने 1999 में और दूसरी बार दूसरा जो था, जो कि दवाइयों को ज़्यादा टच करता है, वो 2005 में पास किया। उस समय वाइस रॉय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसको सपोर्ट दे रहे थे ये सीपीआई-सीपीएम। तो उसमें जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी हैं, उन्होंने कुछ 500 करोड़ से लेके 1000 करोड़ की रिश्वत मिली थी हर एक एमपी को एक एक दो दो करोड़ दिए थे ये कानून पास कराने के लिए तो 2005 में ये पेटेंट का कानून पास हो गया और उसकी वजह से दवाइयों के दाम किसी दवाई के दाम डबल हुए तो किसी दवाई के दाम चार गुने हुए तो किसी भी दवाई के दाम बीस गुने हो गए और उससे मेजर बेनिफिट मिला मिशनरियों को अभी गरीब आदमी के पास तो इतनी महंगी दवाई खरीदने का पैसा होता नहीं है तो वो कहाँ जाएगा वो मिशनरी के पास जाएगा मिशनरी उसको दवाई देंगे और बाद में वो कन्वर्शन करने में उनको आसानी मिलेगी मिशनरी को ये दवाई क्यों फुकट के भाव आती है मुफ्त के भाव आती है कि जो अमेरिकन कंपनी जो दवाई बेचती है उसको सारा जो खर्चा है वो तो उसको अमेरिकन यूरोप मार्केट से मिल गया मान लो दवाई के रिसर्च में उसको बीस मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था तो वो बीस मिलियन तो उसने अमेरिका और यूरोप की मार्केट से ही कमा लिया अब बाकी इंडिया में वो भेजेगा तो एक दवाई मान लो एक लाख की दवाई बेची तो उसमें उसको सत्तर अस्सी हजार जितना प्रॉफिट मिल गया और बदले में वो दस बीस हजार की दवाइयां मिशनरी को फ्री में दे देगा और इस तरह से जो हिंदुस्तान में जो प्रॉफिट मिल रहा है उसी के आधार पे वो मिशनरी को फ्री में दवा दे देते हैं और मिशनरी को कन्वर्जन में सहूलियत मिलती है पर ये कानून आया कैसे क्योंकि तो दवाई बनाने वाली कंपनियों ने ये जितने भी सीपीएम के एमपी हैं सीपीएम सीपीआई और कांग्रेस उनको हर एक एमपी को दो दो करोड़ की रिश्वत दी और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के एमपी को रिश्वत नहीं मिली जो अपोजिशन में होते हैं उनको कम मिलती है पर उनको भी अपने हिसाब से मिलती है क्योंकि वो पार्लियामेंट में भले उनकी माइनॉरिटी हो पर वो मास मूवमेंट खड़ी करने के कैपेबल होते हैं बीजेपी है भले पार्लियामेंट में उसके कम एमपी हो लेकिन मास मूवमेंट खड़ी करके ये कानून पेंटिंग का कानून रुकवा सकते थे वो नहीं रुकवाया और वो न रुकवाने के लिए बीजेपी के सांसदों को पैसे मिलता है उसके बाद एसईजेड e का कानून एसईजेड e का कानून एक्सपोर्ट मार्केट को कॉर्नर करने के लिए था एसईजेड e का कानून इस तरह से कि मैं एक प्लॉट है उस प्लॉट को सरकार ने एससीजेड बना दिया चार दीवार उसकी बांध दी उसके अंदर एससीजेड यानी यदि मेरी कोई उसमें ऑफिस है या तो मेरा उस पर फैक्ट्री है तो उस पर जो प्रोडक्शन होगा उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है ना कस्टम भरना है ना एक्साइज भरना है ना इनकम टैक्स भरना है कोई टैक्स नहीं भरना और आपकी फैक्ट्री यदि बाहर है तो आपको हर तरह के टैक्स भरने हैं एसएसएड के अंदर लेबर लॉ अप्लाई नहीं होगा प्रोविडेंट फंड लॉ अप्लाई नहीं होगा कुछ मुझे अप्लाई नहीं होगा मुझे कुछ नहीं करना है और आपका भी फैक्ट्री यदि एसएसएड के बाहर है तो सारे कानून आपके अप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका धंधा बढ़ जाएगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे एफिशियंटली नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाएगा तो मेरे सामने कॉम्पिटिशन में आप टिक नहीं पाओगे और एसएसएड से मैक्सिमम फायदा विदेशियों को होता है क्योंकि उनको चीजें सस्ते दामों में मिलनी शुरू हो जाती है तो मैक्सिमम बेनिफिट इससे यूएस और यूरोप की इकोनॉमी को होता है तो एसीजेड e चलाने का खर्चा तो किसी को देना ही पड़ता है क्योंकि सरकार को सेना मेंटेन करनी है पुलिस मेंटेन करनी है ये अदालतें मेंटेन करनी है तो टैक्स तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा तो एसीजेड e पे जो टैक्स नहीं लिया जाता उसका भुगतान जिन लोगों का एसीजेड e में फैक्ट्रियां और ऑफिस नहीं है उनको चुकाना पड़ता है तो ये जेड का कानून है जिसके द्वारा सांसद है वो आम नागरिक को लूट रहे हैं और वो कानून कैसे पास हुआ कि जो लोग एसिडेंट बनाने की कैपेबल है बड़े बिजनेसमैन एमपी एमएलए मिनिस्टर वो लोग एमपी को रिश्वत देते हैं एसिडेंट का कानून भी दो स्टेज में पास हुआ था एक 1990s में पास हुआ था और दोबारा उसको स्ट्रेंथन करने का पास हुआ 2005 में आ, उस समय भी ये वाइस रॉय मनमोहन सिंह की सरकार थी और सीपीएम सीपीआई के एमपीओ की सरकार थी और उन्होंने उन्होंने एसिडेंट के मालिकों से पैसे लेके एसिडेंट का काम कर दिया कुछ छोटे एग्जाम्पल दूंगा जैसे कि बहुत सारे शहरों में मीटर टैक्स नहीं है मीटर टैक्स नहीं है जैसे बॉम्बे में आपको मीटर टैक्स मिल जाएगी हर एक कोने में वैसे मीटर टैक्स ही आपको अहमदाबाद में अभी तक नहीं है और अधिकतर शहरों में नहीं मिलेगी उसका वजह क्या है मीटर टैक्स ना होने का कारण यदि बड़े पैमाने पर मीटर टैक्सी आ जाती है तो ये गाड़ियों की गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी आप देखिए कि आदमी के पास यदि यदि शहर में हर जगह एयर कंडीशन टैक्सी मिल रही है टैक्सी मिल रही है तो कुछ लोगों को गाड़ी की जरूरत होती है पर बहुत कम होती है कभी कभी कोई रिलेटिव आ रहे हैं इंपोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं तो उनके उनको वो रिक्शा में घुमा के नहीं बिठाना चाहता वो उनका चाहता है कि उनके लिए एयर कंडीशन व्हीकल हो इसलिए वो गाड़ी खरीद लेता है जब गाड़ी आ गई तो उसका हर जगह उपयोग शुरू कर देता है पर गाड़ी ना हो तो आदमी ऑटो रिक्शा में जाएगा और उससे उसका काम तो चल ही जाएगा और आप कैलकुलेट करके देखो तो ऑटो रिक्शा का खर्चा कम आता है गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा इंश्योरेंस का खर्चा मेंटेनेंस का खर्चा इंटरेस्ट कॉस्ट ना भी गिनो और एक गाड़ी खरीदी यूँ समझो कि एक लाख किलोमीटर के बाद खत्म हो जाएगी ये सारे गिन लो तो आपको लगे पता चलेगा कि गाड़ी का खर्चा है वो ऑटो रिक्शा से ज़्यादा होता है और लेकिन इसलिए यदि एयरकंडीशन टैक्सी आई तो लोग ऑटो रिक्शा में जाएंगे और गाड़ी का उपयोग कम कर देंगे तो गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी। तो जो ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली कंपनियां होती है वो मिनिस्टरों को रिश्वत देती है कि भाई आप मीटर टैक्सी बंदी करा दो, लाइसेंस ही मत दो और इससे ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस बढ़ेगा। फिर इसी तरह से आता रहता है, जैसे अभी पेपाल बंद हो गया था इंडिया में। PayPal India to India payment बंद करा दिया था। कि आपको यूएस से पैसा आ रहा है तो आप पेपाल से ले सकते हो लेकिन इंडिया टू इंडिया पेमेंट किसी को देना है तो पेपाल नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा तो क्रेडिट कार्ड की जो है वो अधिकतर बैंक और एमएनसी है उनको फायदा हो गया और पेपाल है वो कम कमीशन पे काम करता था तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनियों का उससे कमीशन बढ़ गया पेपाल के निकलने से और वो कंपनियां ये कानून तो बंद है कि उन कंपनियों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर या जो बड़े अधिकारी है उनको रिश्वत दी होगी और उससे लिए उन्होंने पेपाल को बंद कराने के लिए ऑर्डर दिया तो इस तरह के अनेक दाखिले हैं मैं ये एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ ताकि आप कानून का इम्पोर्टेंस समझो कि भाई बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो बोलते हैं कानून वानून कुछ नहीं है बस मॉरल वैल्यू सुधार दो धरा अच्छे धर्म का प्रचार करो लोग धार्मिक हो जाएंगे लोगों की मॉरल वैल्यू सुधर जाएगी उनके पास कोई इंजेक्शन होता है कि वो इंजेक्शन देंगे और आदमी की मोरल वैल्यू सुधर जाएगी ऐसा उनका दावा है कि बस रोज सुबह उठ के नारे लगाओ वंदे मातरम के दस बार नारे लगाओ फिर तिरंगा झंडा लहराओ फिर प्रार्थना करो और इससे मोरल वैल्यू सुधर जाएंगे मोरल वैल्यू सुधर जाएंगे देश अपने आप सुधर जाएगा ऊपर आ जाएगा कानून में इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उनकी बात को खंडन करना चाहता हूं कि वो झूठे हैं वो लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं लोगों को कानून की डिटेल में जाना चाहिए ये सारे जो हमारे आसपास ऐसे जितने भी प्रॉब्लम है जो कि आप इंडिया में देख रहे हो और अमेरिका में नहीं है वो इसी की वजह से है कि हमारे पास अच्छे कानून नहीं है और बुरे कानून बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंट लॉस है ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ छोटे लॉस का एग्जाम्पल दिया इम्पोर्टेंट लॉस है राइट टू रिकॉल का अभाव अमरीका में लोगों के पास पुलिस कमिश्नर के ऊपर राइट टू रिकॉल है गवर्नर के ऊपर राइट टू रिकॉल है एमपी एमएलए के ऊपर राइट टू रिकॉल है यहाँ पे राइट टू रिकॉल नहीं है इसलिए भ्रष्टाचार ज्यादा है पुलिस में भ्रष्टाचार क्यों ज्यादा है क्योंकि पुलिस में राइट टू रिकॉल नहीं है हमारे पास right to recall police commissioner है तो ये मैंने आपको मेजर एग्जाम्पल्स दिए बाकी छोटे एग्जाम्पल्स जो है ये ये वीडियो में मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल्स दिए बाकी right to recall jury system जो बड़े कानून है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के दूसरे वीडियो पे मिल जाएगी ज्यूरी आप चैनल सर्च पे करना चैनल सर्च पे आप करोगे ज्यूरी तो ज्यूरी सिस्टम पे दो वीडियो मिलेंगे एक पंद्रह मिनट का वीडियो एक डेढ़ घंटे का वीडियो जो कि सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता है राइट टू रिकॉल पे आप करेंगे तो दो तीन वीडियो राइट टू रिकॉल पर मिलेंगे और इस तरह से अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो धन्यवाद